अंश अपने विषय में सोचिए आपने सुना था स्वयं व्यक्ति अपना अत्यंत विरोधी है स्वयं व्यक्ति अपना अत्यंत मित्र भी है दोहरा लो वेद मुनि जी क्या कहा और एक भूल गए एक याद रह गया स्वयं व्यक्ति अपना उसके क्षेत्र विस्तृत है एक उपासना का एक दृष्टांत देता हूं उपासना के क्षेत्र में आप यदि उपासना काल में उपासना के नियमों को प्रयोग में नहीं लाते उपासना के विरुद्ध जो कार्य हैं विचार हैं उनको उपासना काल में उठा लेते हैं तो आप ही स्वयं अपने विरोधी हैं इसलिए आत्मनिरीक्षण में देखना चाहिए कि मैं अपने लिए क्या हानिकारक कार्य करता हूं चाहे वो विद्याध्ययन का हो चाहे वो धर्म आचरण व्यवहार का हो चाहे वो उपासना का हो तीन वर्गो में व्यक्ति स्वयं अपनी हानि विद्या के क्षेत्र में उसको पढ़ना पढ़ाना नहीं आता तो अपनी हानि कर लेता है व्यवहार में यम नियमों का पालन दूसरों के साथ धर्माचरण ठीक नहीं करना आता तो वो अपनी हानि करता है उपासना काल में यदि व्यक्ति विधि पूर्वक उपासना नहीं करता तो अपनी हानि करता आपने बहुत कुछ सुना है पढ़ा भी है और सुनो और सोचो और देखो सतत सुनते देखते रहो प्रयोग करते रहो तब आपको प्रयोग करना आ सकता है नहीं तो नहीं आ सकता उपासना काल में एक दृष्टांत देखिए उसके मन में एक सुंदर रूप की स्मृति उसने उठा ली चाहे वो आजकल देखा हो सुंदर रूप से दस वर्ष बीस वर्ष पीछे देखा हो सुंदर रूप में राग हो गया पहली भूल क्या थी उसकी सुंदर रूप में राग उत्पन्न किया उसमें रस लिया बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है आशक्त हो गए उसका संस्कार बन गया भूल करते समय यदि वो सावधान रहता तो राग से उस रूप को नहीं देखता उसमें रस नहीं लेता उसमें आशक्त नहीं होता तो संस्कार नहीं बनता कुछ समझ में आया नहीं आया बोलो यदि वो सावधान रहता पहले से सावधान रहता सुंदर रूप को रुचि से नहीं देखता उसमें आसक्त नहीं होता ये अत्यंत सुखप्रद है ये दृष्टि नहीं बनाता तो सुंदर रूप का संस्कार मन में नहीं होता आरंभ भूल यहां से हो गई अब वो संस्कार उपासना काल में अंदर विद्यमान है और असावधानी के कारण ये व्यक्ति उस राग वाले संस्कार को जगा लेता है ये दूसरी भूल है तीसरी भूल ये ये नहीं मानता कि इस राग को मैंने उठाया है जगाया है वो ये मानता है कि राग स्वयं उत्पन्न हो गया है मां से चलिए कितनी भूलें हो गई प्रथम भूल क्या थी नहीं नहीं असावधानी कहां पर थी व्यवहार काल में सुंदर रूप में रस लेना उसमें आसक्त हो जाना उसको सुखदायी समझना ये संस्कार की भूल यहां से संस्कार बन गया भूलिया हुई जितने काम करने थे दूसरे से लेना देना था सुंदर रूप वाले से बात करनी थी वो बिना आसक्ति के बिना राग के भी की जा सकती थी व्यवहार कार्य में हमने व्यवहार कर लिया पर सुंदर रूप वाले व्यक्ति में हमने आसक्ति उत्पन्न नहीं की उसके सुंदर रूप को रस से नहीं देखा उसमें आसक्त हम नहीं हुए तो ठीक व्यवहार सारे किया और यदि इसमें असावधानी होगी तो राग का संस्कार बनेगा बड़ा दृढ़ बनेगा जितना अधिक रुचि से देखेगा व्यक्ति अधिक देर तक देखेगा व्यक्ति अधिक एकाग्रता से देखेगा व्यक्ति उतना ही राग का संस्कार मौजूद पड़ेगा आगे बढ़ जाइए वो उपासना में बैठा फिर ईश्वर ध्यान में पहली भूल तो वो थी अब दूसरी भूल देखिए अब उसने उपासना काल में उस राग को जगा लिया जो देखा था पहले उस संस्कार को जगा दिया ये जगाने की भूल की नहीं जगाना चाहिए था हमारे मन में तो पता नहीं कितने संस्कार हैं जन्म जन्मांतरों के ढेर पड़ा है उनको जगाओगे तो जग जाएंगे नहीं जगाएंगे तो पड़े रहेंगे जैसे शेर सो रहा हो और मूर्ख मूर्ख व्यक्ति शेर को डेले मार करके आवाज करके उठा ले मूर्ख बुद्धिमान कहेगा इसको जगह मत देना चुपचाप निकल जाओ नहीं समझे आप बुद्धिमान तो कहेगा उठ गया हो तो मेरी मौत है इसको आवाज न चली जाए चुपचाप निकल जाओ और मूर्ख व्यक्ति फू फू फू फू करता चलेगा ढेले फेंकेगा ये करेगा वो शेर को जगाएगा उसकी मौत हो जाएगी वेद मुनि जी थक तो नहीं गए हो आपको सावधान करने के लिए बोलता हूं आपको बुरा तो नहीं लगता नींद न आ जाए कभी आप बूढ़े होने से लटके ने मारने लग जाए बुरा नहीं लगता तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है इस अंदर बैठे राग को शेर को न जगा दू कभी मैं अंदर जो आक्रमणकारी राग है संस्कार उस शत्रु को न जगा जाऊं वो मूर्ख व्यक्ति क्या करता है सावधानी से उसको जगा देता है राग को जगा दिया और राग को जगा देने पर यह मानता है ये अपने आप जग गया है अब क्या समझ में आया ये तो कौन सी भूल हो गई तीसरी भूल तीसरी भूल हो गई वो जगाता है स्वयं उदाहरण शेर को ले लो इस व्यक्ति ने क्या किया घूम रहा था जंगल में शेर सो रहा था इधर ढेले फेंके इधर ये किया इधर शोर मचाया इधर ये किया वो किया शेर को जगा दिया कहने का शेर को मैंने तो कुछ नहीं किया था ये अपने आप आके मेरे ऊपर आक्रमण किया इसने अब भले व्यक्ति तूने नहीं तो शेर को जगाया था शोर मचा के अंदर बैठा जो राग का संस्कार है उसको जगा देता है कहता जी ये मन बड़ा शत्रु है इसने जगा दिया मैंने तो कुछ किया नहीं मन में बैठे राग को जगा दिया इसने और ये मानता मैंने नहीं जगाया आप आत्मनिरीक्षण कर लेना पिछले भी रगले भी ब्रह्मचारी आप जो बैठे हो ये सभी काल में उपासना काल में भी व्यवहार काल में भी वो बुराई को व्यक्ति उठाता रहता है और वो ये मानता है बुराई को मैं नहीं उठा रहा हूं ये बड़ी समस्या है मैं नहीं मैं नहीं उठा रहा मन उठा रहा और सावधानी क्या है वो ये कहता है मन नहीं उठा सकता मन जड़ पदार्थ है मैं उठाता हूं ये सावधान व्यक्ति काम करता है नहीं उठाना उपासना काल में नहीं उठाना अगली बात उसको ये समझ में आया याद रखना कि मैं उठाता हूं ये तो समझ में आया अगली एक भूल होती है एक बार उठाया असावधानी के कारण और उसने क्या सावधानी बरती फिर उसको रोक दिया मैं उठाता हूं अब नहीं उठाऊंगा ईश्वर की उपासना करूंगा तो उसने क्या किया वो असावधान हो गया ओम भूर भू स्व तत्सवीर बोलने लगा आप देखेंगे कितनी असावधानी असावधानी दोनों कितनी सावधानी होती है और कितनी असावधानी इसको परीक्षा उपासना काल में कर सकते हैं आप अब वो ओम भूर भुव स्व भू जो प्राणों का भी प्राण भुव सब दुखों से छुड़ाने हारा स्व स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा ऐसा ही तो कर रहा था और जट वही राग का संस्कार फिर उठा दिया उठा दिया और भूर भुव स्व का अर्थ फिर भूल गया आप ऐसा नहीं देखते क्या आप बताओ ऐसा होता है नहीं होता बस आप इस उठते हुए को नहीं रोकोगे तो आप दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे कितना सावधान व्यक्ति को रहना पड़ता है ऐसे जैसे हम चुटकी बजाएं ये तो बहुत बड़ा कार्य भी हो सकता है इतना शीघ्रता से पीछे उठता है उनको पता भी नहीं चलता मैं कहां चल रहा था और कहां चला गया बुद्धिमान व्यक्ति तो जगा दिया उसने तत्काल सावधान हो गया फिर रोक दिया और जो ढीला डाला व्यक्ति आलसी प्रमादी उसने लीला छोड़ा और वो आगे बढ़ता गया विचार एक राग का विचार आगे बढ़ा जिससे राग था वो व्यक्ति सामने दिखाई देने लग गया फिर उस सुंदर रूप से हटाने वाला विरोधी व्यक्ति आया हटो यहां से दूर तो अब उससे द्वेष आरंभ हो गया वो हटाने वाले से और वो देखता है वो गाड़ी चलती चलती कान लाइन से उतर गई समुद्र का जहाज यदि थोड़ी देखा इधर करे तो 200 किलोमीटर दूर चला जाता अपने मार्ग से वो व्यक्ति सारे उपासना काल में राग और द्वेष और उसके पीछे पता नहीं वो उपासना तो चली गई कहां से आरंभ हुई थी और ये घूमता रहा बेचारों में ये व्यक्ति स्वयं का स्वयं शत्रु बन जाता है स्वयं अपना विरोधी जो समय काल ईश्वर के लिए लगाना था ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर रही थी उसे आनंद ज्ञान बल्कि उपलब्धि थी वो नहीं हुई लुटपट करके खड़ा हो गया समय हो गया भाई कितना संध्या का समय एक घंटा आधा अब क्या करो अब रोटी खाओ और उस और चलो भाई हो गई संध्या आप यदि उपासना काल में ऐसा करेंगे तो आपकी यही स्थिति रहेगी और 20 वर्ष 30 वर्ष भी करते रहोगे तब भी यही रहेगी नहीं रोकोगे तो स्थिति यही रहेगी और फिर परिणाम ये निकलेंगे आपका व्यवहार अशुद्ध अनुचित अधर्म का होने लगेगा और फिर लोग कहेंगे ये उपासना करने वाला योगाभ्यास करने वाला ये व्यक्ति समाज के लिए कितना दुखदायी है स्वयं में दुखी रहता है और औरों को दुख देता है परिणाम ये निकलेगा तो आपको सुनाया जा रहा है स्वयं व्यक्ति अपना विरोधी होता है और स्वयं व्यक्ति अपना मित्र भी होता है यदि इन दोषों को हटाओ तो आप अपने मित्र हैं इन दोषों को रखो तो आप अपने शत्रु हैं गीता के शब्द को लेना हो तो वो उसको जोड़ लो क्या पाठ है आत्मा ही बंधु आत्मा न आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है जो अविद्या को कट्ठी करता अन्याय को करता उल्टी उपासना करता कुसंस्कारों को जगाता वो अपना शत्रु है अविद्या को मारता विद्या का उपार्जन करता अधर्म को उखाड़ता धर्म की स्थापना अच्छी उपासना करता बुरी उपासना को छोड़ता बुरे संस्कारों को मारता अच्छे संस्कारों को उत्पन्न करता वो अपना मित्र है ये पद्धति प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति को आनी चाहिए ये जो मैं आपको सुनाता हूं और चल रहा लंबे काल से कहां कहां पर कैसे कैसे आप यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित बात है कि आपको सफलता मिलेगी समाज को आप देने देंगे हो सकता है देश को और फिर विश्व को भी कुछ देने दे सकते हैं इतना शक्ति इतनी शक्ति इतना सामर्थ्य आप में है और बाहर से उपार्जित किया जा सकता है इसलिए स्वामी दानंद सरस्वती ने एक बात कही मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है क्या याद रखोगे इसका क्या अर्थ करोगे आप अपनी बुद्धि से व्याख्या कैसे करोगे इस भूमि से लेकर के पृथ्वी स्थूल पदार्थ है ईश्वर तक के जितने भी पदार्थ हैं सबके स्वरूप को जानने की क्षमता रखता है कुछ तो समझ में आया होगा पृथ्वी क्या है जल क्या है अग्नि क्या है वायु क्या है आकाश क्या है आगे बढ़ो इंद्रिया क्या है अहंकार क्या है बुद्धि क्या है आगे प्रकृति सत्वर क्या है जीवात्मा क्या है वो उसके शुभ अशुभ कर्म क्या है ईश्वर क्या है उसके गुण कर्म स्वभाव क्या है नीचे से लेकर के वहां तक सत्य और सत्य को जानने वाला है क्या समझे साधक जी ये क्षेत्र परंतु हठता करता है दुराग्रह करता है अनेक स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है अज्ञानता आदि के कारण झूठ में झुक जाता है ये उन्होंने कहा इन विरोधी तत्वों को उखाड़ दो आप आप भी भूमि से लेकर ईश्वर तक के सत्यासत्य को जान लोगे अब विराम तिष्ठति स्वरयस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः सम्मान्य विद्वद्गण उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं आज अनेक विषयों की और संकेत करना है एक तो ये इस काल में आप पठन पाठन के साथ यहां पर विद्या योग व्यवहार अथवा कर्म इन विषयों का कैसे परिज्ञान इनका प्रयोग इनके करने में क्या क्या सावधानियां क्या न करना क्या करना और आंतरिक मानसिक स्तर कब कब कैसा कैसा होता है इसके संबंध में ये इतना श्रवण आपने किया आपका प्रयास किया तो हम कब पहुंचे थे अहमदाबाद जुलाई तो उस काल से लेकर के हाँ जी आज जुलाई और अगस्त ये है मध्य में जैसे कि गुजरात के बड़े बड़े नगरों में कार्यक्रम बनाए थे जिसमें बारह दिन के लगभग लगा था शेष काल उन दिनों को छोड़ कुछ लगे आपके लिए लगाया गया और ये प्रशिक्षण आपको दिया गया या पढ़ाने में भी यही विद्या आती है सिखाया भी यही जाता है इतना परिश्रम करने पर भी आप यदि जो सफलता ऋषियों ने मानी है समाधि प्राप्ति करना औरों को कराना यदि आप इतना बताने सिखाने पर भी नहीं करते तो आप याद रखिए किसी कोने में आप जाके कर लेंगे समाधि की प्राप्ति ये आशा नहीं की जा सकती इसको मन से निकाल दीजिए इसका ध्यान रखिए इसके इस ढंग से प्रशिक्षण से आप अपनी बुद्धि को प्रधानता देकर इस सारे प्रशिक्षण को आप अपनी बुद्धि की मान्यता मंतव्य उसके नीचे दबा देते हैं ये भयंकर दोष रहता है कितना ही सिखाना कितना बताना उसके पीछे मोहर अपनी लगेगी जो मेरी बात बुद्धि काम करती है वो ठीक है सिखाने वाले की बात सारी गलत है ये दोष प्राय व्यक्तियों में होता है और ये दोष आप में है तो आप नहीं सुधर सकते समझ रखिए ये प्रसंग आता रहता है इतना प्रशिक्षण इतनी विद्या पढ़ाने पर इतना समय लगाने पर ये लोग बाहर के हों चाहे और दूसरा विभाग ब्रह्मचारी इनको ये समाधि प्राप्त क्यों नहीं होती ये प्रसंग आता है नहीं आता अपने यहां के पढ़े लिखे भी पूछ लेते हैं और बाहर के लोग भी पूछते हैं कि ये इतने ब्रह्मचारी जो प्रशिक्षण पाते हैं दर्शन पढ़ते हैं उपनिषद पढ़ते हैं वेद पढ़ते हैं अच्छा इनकी समाधि क्यों नहीं लगती प्रश्न तो उठेगा ये या नहीं उठेगा लग जानी चाहिए यद्यपि समय कारण अनेक है कुछ संकेत दे देता हूं ये सिखाने वाले गुरु की बात को नीचे दबा देते हैं और अपनी बात को ऊपर रखते हैं इसलिए समाधि नहीं लगती दोहराव क्या समझ में आया सिखाने वाले गुरु जी की बात को नीचे रख देते हैं और अपनी बुद्धि को ऊंचा मानते हैं बस जहां तक आपकी बुद्धि के अनुसार बताएंगे हम वहां तक आप मान लेंगे बिल्कुल ठीक है ठीक है जहां आपकी बुद्धि के विरुद्ध कोई बात कहेंगे वो आपको मान्य नहीं है उसको अपनी बात आपकी मान्य होगी और हमारी बात ठुकराओगे आप रोग ये है बहुत भयंकर है ये वेद मुनि जी आई बात समझ में हाँ ये रोग आप में भी होगा ये नहीं कि नहीं मैं तो <laughs> सब कारण बाधक और साधन गंभीर अध्ययन अध्यापन प्रयोगों के माध्यम से सिखाया जाता है परिणाम ये निकलता है ये विद्या ऐसी मानी जाती रही आज और गंभीर हो चुकी है जब नचिकेता का काल माना जाता है प्राचीन काल का माध्यम माना जाता है उस समय एक प्रसंग आया प्रसंग का भाव है कि कि प्रथम बात तो ये है कि ये विद्या प्रायः व्यक्ति को ब्रह्म विद्या योग विद्या सुनने के लिए नहीं मिलती उसको सुनने का अवसर या सुनाने वाले और वो सुनने वाला उसको मिलती ही नहीं है विद्या जीवन में एक बात दूसरा भाव है यदि सुनने के लिए मिल भी गई और उसको सुनाया गया पढ़ाया गया तो वो समझता नहीं ये दूसरा दोष है और वो बौद्धिक स्तर पर समझ भी गया उसको आचरण में नहीं लाता अंत में अगला जो ऊंचा बाधक कारण है गुरु जी की बातें जहां अपनी मान्यता से टकराती हैं कुछ इन्हीं गिनी वहां उसकी बात प्रबल होती है गुरु जी की नीचे होती है निर्बल होती है उसका खंडन होता है ये भयंकर रोग वहां जाके बाधा डालता है जो जो अनुकूल हो गुरु की बात अपनी प्रवृत्ति बुद्धि उसको स्वीकार करता है कहता हाँ ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है एक उदाहरण देता हूं आपको समझ में आएगा पहले भी आपने सुना बार बार सुन लीजिए आपका एक व्यक्ति बिना कारण के अपमान करता है प्रतिदिन करता है और समझाने से मानता नहीं है दुख देता रहता है शरीर से नहीं वाचनिक सुनिए आप वाणी से थप्पड़ नहीं मारता आपको डंडे नहीं मारता वाणी से आरोप लगाता है वाणी से कटु बोलता है वाणी से अपमान करता है आदि सिखाने वाला आचार्य कहता है ये कितना ही अपमान करे कितना ही अपशब्द बोले पर आप दुखी भी नहीं होना और उसका प्रतिकार उत्तर सवाया डेढ़ा अपमान या किंचित भी अपमान उसका नहीं करना और प्रसन्नता से सहते रहो और चलते जाओ अब ये बात उसने सुन ली गुरु जी से अब फिर अपमान होता है फिर वो अपशब्द बोलता है कहते देखो गुरु जी मैं ये बात आपकी नहीं मानू मैं नहीं सह सकता ये मैंने उदाहरण दिया ये ऐसे उदाहरण है जिनमें ये व्यक्ति विफल होता है उस काल में ऋषि ने कहा था अंत में वो बातें आ रही थी कि इस विद्या का सिखाने वाला गुरु और इस विद्या को सीखने वाला शिष्य दुर्लभ है उस काल की बात है आज तो कितने दुर्लभ है कल्पना करो आज तो ये कहो को है ही नहीं दिखता ही नहीं आप देख पाएंगे कि अध्ययन करेंगे क्या ऐसी बात है या नहीं है तो ज्यो की तो मिलेगी आपको जहां जहां आपकी मान्यता और सिखाने वाले गुरु की मान्यता टकराती है परस्पर आपकी मान्यता कुछ कहती है उससे विरुद्ध गुरु जी की मान्यता और कुछ कहती है वहां आपकी बात मान्य होगी गुरु जी की नहीं एक बहुत बड़ा रोड़ा है बाधक है इसको व्यक्ति छोड़ नहीं पाता छोड़ नहीं पाता तो जो गुरु ने जो बात कही थी जितने स्तर पर वो स्थिति उसके हाथ नहीं लगेगी अस्सी नब्बे वर्ष का हो जाए तब भी नहीं लगेगी आप भी देख लेना किसी को भी नहीं लगेगी दूसरी बात जिस व्यक्ति के मन में पुत्रेषणा पुत्र की इच्छा आगे बढ़ो तो शिष्य भी पुत्र कहलाते हैं उसमें भी पुत्र की भांति वैसा ही मोह राग हो जाता है शिष्यों में वो ईषणा के अंतर्गत है यदि वो उसके अंदर घर स्थान कर चुकी है अंदर जगह पा चुकी है पुत्र पुत्रेशना वो व्यक्ति इस विद्या को नहीं जान सकता एक व्यक्ति गृहस्थ में नहीं गया पुत्र उत्पन्न नहीं किए कोई गोद भी नहीं दिया आदि पर शिष्य के अंदर जो पुत्र की भांति जो राग इससे सम्मान मिलेगा ये मेरी सेवा किया करेगा मेरा कीर्ति यश बढ़ेगी ऐसे जब ये स्थिति आती है तो पुत्र के तुल्य शिष्य में भी पुत्रेषणा होती है तो उसमें पुत्रेषणा के क्षेत्र में यदि वो जगह देता है स्थान देता है इस योग विद्या को ब्रह्म विद्या को नहीं पा सकता एक स्थिति है पुत्रेशन से टक्कर लेना टक्कर लेता है वो बाहर फेंकता है फिर पुत्रेशना जन्म जन्मांतर की उभरती फिर टक्कर लेता है संघर्ष चलता है वो व्यक्ति कालांतर में उसको जीत सकता अब दूसरी बात वित्तेषणा धन की और भोगों की इच्छा दोनों साथ मिलकर वित्तेषणा कहलाती है दोहराओ क्या समझ में आया धन की और भोग की इच्छा दोनों मिलाकर के वित्तेषणा कहलाती है सुख सुख के साधन ये कह दो उसको यदि व्यक्ति स्थान देता है पहले आपने सुना है इन विषयों में पुत्र के विषय में सुना है ऐषणा और वित्तेषणा के विषय में सुना है लोकेषणा के विषय में पहले आप सुन चुके समाधान शंका उठा उठा कर यदि व्यक्ति इनके लिए स्थान देता है धन के लिए और भोग के लिए वो योगी नहीं बन पाता संकेत पहले व्याख्या हो चुकी है शरीर के लिए भोजन चाहिए वस्त्र चाहिए भवन चाहिए पुस्तक चाहिए और अपने जीवन के निर्वाह के लिए जो धन चाहिए वो ऐषणा नहीं कहलाएगी आप पहले सुन चुके उसका नाम ऐषणा नहीं है धन और भोग उसको प्रिय लगता है ईश्वर उसको इतना प्रिय नहीं लगता ये है वित्तेषणा समझ में आ गया जैसे भाई कुछ आ रहा है समझ में या बुढ़ापा दबा रहे आपको मंत्री जी तो टेढ़ी कमरे में बैठे हैं अब बूढ़े से देर तक बैठा भी नहीं जाता सीधी कमर से और टेढ़ा होके बैठता है और सोचता है अब जवान हो जाऊंगे जवानी में यह नहीं सोचा मैं बूढ़ा होऊंगा तो जवानी बच जाती देर में बूढ़ा पाता समझ गए वितेषणा सुख और सुख साधन की इच्छा बनी रहती है उनके संतुलित उनके समकक्ष धन जितना प्रिय और भोग सुख जितना प्रिय उतना ईश्वर प्रिय नहीं है ये है वित्तेषणा लोकेशणा आपने यदि अपने मान को सम्मान को इच्छा को इसको अंदर स्थान दे दिया कि मुझे मान चाहिए चाहे कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो यदि सम्मान की इच्छा अंदर विद्यमान रहेगी तो योगी नहीं बनेंगे आप कभी नहीं बनेंगे ये अलग बात है संध्या करो जप करो ध्यान करो शांति मिलेगी सुख मिलेगा संस्कार अच्छे आएंगे बुरे हटेंगे यहां तक आपत्ति नहीं है ऐसा चलता रहता है सामान्य स्तर है ऊंची समाधि की वैराग्य की बात जहां तक है मैं वो बात सुना रहा हूं वो नहीं मिलेगी आपको टक्कर तो कर सकते हैं आप इन चीजों से टक्कर तो बजती रहेगी देर तक पर अंदर जगह नहीं दे सकते तीनों को स्थान नहीं दे सकते ये बाधक आपके सामने और सुनिए जब तक व्यक्ति अपना स्वस्वामी संबंध छोड़ नहीं देता उसका परित्याग नहीं कर देता मन वाणी शरीर व्यवहार से अपने स्वामित्व को समाप्त नहीं कर देता ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता तब तक वो समाधि को प्राप्त नहीं कर पाएगा ध्यान से देखो परीक्षण से आप देख सकते हैं कि हमारे मन में वाणी में शरीर में व्यवहार में हम सांसारिक वस्तुओं के स्वामी कब कब बनते हैं ईश्वर के स्वामित्व को कब कब छोड़ते हैं ये अध्ययन से पता चलेगा कोई भी बुद्धिमान इसका पता लगा सकता है कोई ऐसी घुली मिली बात नहीं है ये ये प्रत्यक्ष दिखाई देगी आप जिसको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है शरीर से आपने कुछ कार्य किया कुछ सेवा की मेहनत की पुरुषार्थ किया और दिमाग बनेगा मैंने अपने शरीर से इतना परिश्रम किया है इतनी सेवा की है इतना कार्य किया है अपने शरीर से किया है अपने बल से किया है अपनी शक्ति से किया है अपना समय लगाया है वहां स्वामित्व आपका है ईश्वर का नहीं है शरीर के ऊपर इसको कौन देखता है और यदि ढीले होंगे आप असावधान होंगे तो उसके बदले में फल मिले मिलना चाहिए आपको इतना धन इतना कोई मान इतनी चीजें इतने साधन मिलने चाहिए आप यहां पहुंच जाएंगे उस सेवा के बदले सकाम कर्म निष्काम कर्म एक भाग है इसका बुरे कर्म करने वाला और अच्छे सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति समाधि को प्राप्त नहीं कर पाता दोहराओ और समझो क्या समझ में आया सकाम कर्मों को करने वाला तथा बुरे कर्मों को करने वाला व्यक्ति समाधि को प्राप्त नहीं होता अब आप अपने आत्मनिरीक्षण में देख ले कब कब आप सकाम कर्म करते हैं या निष्काम कर्म करते कहना सरल है जब निष्काम कर्म करने लगता है व्यक्ति उसके सामने जो चित्र आता है समाज उसको देखता है उसके सामने कठिनाई आती है उसमें पता चलता है इसका जम पा रहे आने देखो समझाने की दृष्टि से बोलता हम यहां पढ़ाते हैं लगभग सोलह बरस हो गए अब ये अलग विषय है हमारे दूसरे अध्यापक आचार्य ज्ञानेश्वर जी दर्शनाचार्य सु, सुमेरु प्रसाद जी और ये विवेक भूषण जी आदि आदि ये कितना निष्काम कर्म करते हैं इसको मैं अपने ऊपर नहीं लेता जितना करते हैं वो करते हैं मैं अपना परीक्षण बताता हूं एक दृष्टि पहले आप सबका ध्यान दे के मूल्य समझेंगे हम समाज को राष्ट्र को क्या देने देते हैं इतने वर्षों से उनका थोड़ा थोड़ा यदि संकेत दें तो कुछ पता चल सकता है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखिए हमें अपना प्रबंध स्वयं करते हैं ब्रह्मचारियों का प्रबंध स्वयं करते हैं ये सारा खर्चा जो उठाते जो हमको मिलता है या हम मांगते हैं अपना आर्यवन विकास की ओर से सामान्य रोटी साग मिलता है आवास का प्रबंध शेष खर्चा हम करते हैं और आचार्य ज्ञानेश्वर जी के अनुसार एक ब्रह्मचारी पर हमारी ओर से लगभग डेढ़ हजार खर्च होता है मासिक इस सामान्य भोजन का खर्चा होता है आर्यवन विकास का अब तक है अब आगे की सूचना होता बदल जाएगी छूट जाए ऐसा पत्र आया है तो अब ध्यान देंगे आप एक बात तो आपसे कोई पढ़ाई का पैसा लिया जाता हो लेने की बात यहां जबकि प्राचीन काल में ये व्यवस्था रहती थी शिष्य ही भिक्षा मांग के लाता था गुरु जी इसमें खा पी के बचा के रख देते थे तब बचे हुए के खाता था गुरु जी को भोजन का प्रबंध नहीं करने की व्यवस्था थी आपकी पढ़ाई का प्रबंध हम करते हैं पढ़ाते हम हैं आपके लिए धन संपत्ति का प्रबंध हम करते हैं आपके चरित्र निर्माण का कार्य हम करते हैं योग विद्या हम सिखाते हैं एडी से चोटी तरह का एक व्यक्ति पर चते रहना पड़ता है तो उसका दिमाग ठिकाने आता है और दूसरी दृष्टि से सोचिए इतना काम करने वाला व्यक्ति आज मासिक लाखों रुपया लेता है इतने तुलना सारी कार्य हम जो करते हैं मासिक यदि हम वेतन के रूप में इतने काम को करते हैं उसका मूल्य यदि अंकित किया जाए तो हम आज तक बड़े बड़े करोड़पति बन जाते बन जाते समाज प्राय है जो लोग समझते सहयोग देते हैं उनको छोड़ दो हमारा मूल्य कुछ नहीं है समाज के निर्माण इतना ही नहीं हम खाने पीने वाले पड़े रहने वाले हैं ये बेकार के व्यक्ति है ये मूल्य समाज के अंदर अधिक जनसंख्या में ये मूल्य है हमारा क्या समझे आप एक व्यंग्यात्मक भाषा होती है क्या ये सफेद हाथी आपके यहां ठहरे हुए सफेद हाथी सफेद कपड़े वाले हाथी खाते पीते करते कुछ नहीं समाज के दिमाग में ये बात है हमारे प्रति या नहीं है और आगे मैं सुनाऊं तो उसको भी थोड़ा सा सुन लो इतना लंबा कार्यक्रम इतनी निष्काम भावना से अध्ययन अध्यापन इतना प्रचार इतना योग शिक्षण शिविर इतना साहित्य का लेखन और उसका प्रचार इतने ब्रह्मचारियों के लिए परिश्रम करना और समाज की ओर से बिना नाम के पत्रे वर्षों से चलते रहे अब भी चलते होंगे कि ये सारे दोष जिसमें व्यक्ति में हो सकती है बुराइयां वो हमारे नाम से आरोपित की जाती है और भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती है और आगे बढ़े यहाँ पढ़े लिखे कुछ ब्रह्मचारी सबकी बात छोड़ दो इन्हीं गिने होते वो पढ़ते हैं और रहते हैं पढ़ पढ़ा करके फिर अत्यंत विरोध करके जाते और वो जो अति विरोधी व्यक्ति काम करते वो करते ये भी उसके अंतर्गत है कुछ है सारे नहीं होते एक आधे ऐसे भी होते ये हो गया इतना और राजा नाम की जो चीज है आज वो हमारी पढ़ाई लिखाई हमारी भाषा हमारा चरित्र ये उसके लिए सहयोग की बात छोड़ो सहायता की बात छोड़ दो हम उसके लिए रोड़ा बने हुए राजनीति वाले के यदि हमारा चरित्र हमारी बात यदि उनके साथ जुड़ जाए तो वो खड़े होकर काम नहीं कर सकते कोई गद्दी प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो कोई बड़ा पद प्राप्त नहीं कर सकते हमारी शैली मान्यता के टकराएगा उनका खान पान हमारे साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा उनका चरित्र हमारे साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा उनकी राजनीति हमारे साथ बिल्कुल नहीं मिलेगी सारी टक्कर है ज्यो की त्यों और जितने ये संप्रदाय बच गए उनके लिए हम रोड़ा बने हुए सारे संप्रदाय भारत के वो सोचते हैं ये व्यक्ति हमारा खंडन करने वाले हैं और सबसे भयंकर हैं ये साहित्य के माध्यम से प्रचार के माध्यम से वो यहां देख अपने संबंधी माता पिता आदि जो होते हैं वो भी हमारे लगभग विरोधी होते हैं और इस समय हम अपना काम करते रहें और ईश्वर की प्राप्ति करो और कराओ हम ऐसे देखे आनंद का अनुभव करें ऐसा कर सकते हैं आप ये निष्काम कर्म नहीं तो आप हाथ जोड़ो भगवान अगले जन्मों में देखेंगे कि भी आपकी प्राप्ति <laughs> हमारे बस की बात नहीं है यदि इतनी शक्ति आप में हो मैंने संकेत कर दिया है सारा विवरण मैं दो तो पीछे मैंने कैसे विद्या पढ़ी कितनी कठिनाई से पढ़ी कितना इतिहास आप पीछे का देखते चले जाएंगे और उसमें क्या क्या तप तपया है आप तो लाख मांस भी आपके पास में नहीं है उसका इतने तक भी मैं देखता हूं वो सारा देखेंगे ना विवरण और कैसे संस्थाओं में रहना पड़ा और कैसे कैसे हम अपने रहे और कैसे कैसे अर्थव्यवस्था भयंकर रही और गांव और सभी लोग कैसे हमारा विरोध करते रहे सारी बातें करते चले जाइए तो आप यदि ऐसी शक्ति आप में है ईश्वर देता है शक्ति तो आप योगी बन सकते हैं अन्यथा योगी बनने की आशा को तो छोड़ दो हाँ ये आशा मत छोड़ो हमारे कुछ संस्कार बनेंगे हम कुछ विद्या पढ़ेंगे हम समाज का भी कुछ काम करेंगे समाज की ओर से हमके मान भी मिलेगा और भोजन वस्त्र के लिए भी आपको समाज वंचित नहीं रहने देगा कम से कम आप कुछ दर्शन पढ़ा देना कुछ शास्त्र पढ़ा देना अच्छी तरह उपदेश अच्छी तरह दे लेना तो आपको धन भी मिलेगा मान भी मिलेगा और आपको विद्यमान भी माना जाएगा आपका सम्मान होगा ये व्यवस्था तो आपको मिल जाएंगे इससे घबराना नहीं कभी ये सोचो ये भी नहीं मिलेगा हमको नहीं समझे आप ये तो मिल जाएगा आप इतने से वंचित नहीं रहेंगे पर ईश्वर साक्षात्कार ईश्वर प्राप्ति करने कराने की बात तो आपसे दूर रहेगी उसका नहीं छू सकते आप मैंने थोड़ा सा विवरण दिया है और इसमें हमारे मेरे मन में औरों की बात छोड़ दो मैं कभी ऐसा योजना बना के विचार नहीं करता ये मैंने उपकार किया है ये इतना किया इतना ये किया इतना ये किया इतनी कठिनाई उठाई इसके बदले में मुझे कुछ धन चाहिए इसके बदले में मुझे लौकिक सुख चाहिए कभी मैं प्रार्थना नहीं करता मन में इस को जगह नहीं देता इतनी शक्ति इतनी सहन शक्ति इतना तप इतना त्याग इतना सारा पुरुषार्थ आप कर सकते हो तो ठीक है और ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और औरों को करवा दोगे अन्यथा ये दोनों बातें नहीं होंगी ना करवा सकते ना कर सकते दूसरा स्तर तीसरा स्तर मैंने बताया उसमें आप जो कुछ संकेत दिए वो सब मिलेगा आपको मान मिलेगा आपको धन मिलेगा आपको अधिकार भी मिल जाएंगे और समाज का काम भी करेंगे आप प्रचार करेंगे लेखन का करेंगे अध्यापन का करेंगे ये तो मध्य स्तर का व्यक्ति भी कर लेता है उसकी योग्यता तो आ जाएगी आप जिस स्तर पर व्यक्ति अंदर की वासनाओं से जूझता है युद्ध करता है बाहर सामाजिक वातावरण से युद्ध करता है उस युद्ध को तो आप छू ही नहीं रहे अभी वो क्या होता है मैंने जो तो विवरण दिया ऐसे कार्य करेंगे जब ये घटनाएं घटेंगी आपके साथ जब पता चलेगा आपका आप कहां खड़े उस समय पता चलेगा आप ऐसे ब्रह्मचारी को तैयार करना सारे खर्चे का प्रबंध आप करना सारी व्यवस्था उनको पढ़ाना योग सिखाना उनके चरित्र का निर्माण उनकी उलझने को सुलझाते रहना दिन रात उस समय जब ये घटना आपके साथ घटेंगी तब पता चलेगा कि हम कहां खड़े हमारा स्तर क्या है बिना आचरण में लाए दूसरे के व्यवहार को दूसरे की स्थितियों को न आई हुई अवस्थाओं को बुद्धि स्तर पर समझ लेना यह बुद्धिमान का काम है सब इस काम को नहीं कर सकते फिर से बोलू अनुभव जब होता है व्यवहार में करके देखता है तब तो बहुतों को बात समझ में आ जाती है जो व्यवहार में आती है बात उसमें आपको पता चल जाएगा हम कितनी सहन शक्ति रखते हैं आप तो ये देखेंगे एक व्यक्ति यहां पढ़ करके तैयार हो गया कल्पना कीजिए उसी योगी